النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأم وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الله رب العالمين हम सब को यहाँ पर जमा होना कबूल मंजूर फरमाए और इस मुबारक नशिश की बरकतों से हमें ऐसा मुस्तफ़ फरमाए कि रब्लमीन हम सबको ईमान का तहफ़ अता फरमाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पाक से हम इब्तदा करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बड़ा सखी अल्लाह है और इसके बाद सबसे बड़ा सखी मैं हूं नबी अकम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि सबसे बढ़कर सखी जो है वो अल्लाह है और अल्लाह के बाद सबसे बढ़कर सखी मैं खुद हूँ सखावत किसे कहते हैं ये दरअसल ये जो बात पेश की जा रही है ये अकायद से इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है सखावत किसे कहते हैं सखावत इसे कहते हैं कि इंसान के पास बहुत खजाना हो और वो खूब खजाना लुटाए लेकिन उसके खजाने में यानी उसका खजाना खत्म ना हो खजाना खूब वो लुटाए लेकिन उसका खजाना खत्म ना हो और वो कंजूसी ना करे यानी जो उसके पास खजाना है वो खूब लोगों में तकसीम करे उसे कहते हैं सखी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मखलूक में सबसे ज्यादा सखी मैं हूँ तो नबी अक्रम सल्लल्लाहु वसल्लम के लिए मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने खजाने अता फरमाए क्योंकि जिसके पास खजाना ना हो वह सखी नहीं हो सकता सखी के लिए क्या शर्त है मसलन एक शख्स गरीब आदमी है कंगला आदमी है तो आप उसे गरीब तो कह सकते हैं सखी नहीं कह सकते लेकिन हजरत उस्मान गनी का जिक्र आएगा तो आप उन्हें सखी कहेंगे आप कहेंगे उनके पास खजाना बहुत था और वो लुटाते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि सबसे मखलूक में सबसे बढ़कर मैं सखी हूँ यानी अल्लाह के बाद मैं सखी हूँ तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि को खजाने अता फरमाए और आप उन खजानों को लुटाते भी हैं और लुटाने के बाद आपका खजाना ख़त्म नहीं होता बल्कि उस खजाने में कोई कमी वाक़ नहीं होती तो जब ये रसूलुल्लाह की शान है तो अल्लाह तबारक व ताली तो सबसे बढ़कर सखी है तो अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखना कि अल्लाह के पास जो खजाने हैं वो अल्लाह ने छुपा के रखे हैं वो किसी को कुछ नहीं देता तो ये अल्लाह की तोहीन है ये अल्लाह की क्या है तोहीन है अल्लाह ताला ने खूब खजाने अपनी मखलूक को अता फरमाए और सबसे ज्यादा खजाने अम्बिया को फरिश्तों को और औलिया को अता फरमाए तो जिस तरह एक खजाना माल का होता है इसी तरह एक खजाना इल्म का खजाना है एक खजाना क्या है इल्म का खजाना है और इल्म का खजाना जो है वो माल के खजाने से बढ़कर है जब ये पूरी तमहीद आप समझ गए अब हम असल अकीदे की तरफ आते हैं मैं फिर अर्ज करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताली के मुतालिक हजूर फरमाते हैं कि अल्लाह सबसे बढ़कर सखी है और सखी वो होता है जो खजाने रखता भी है और खजाने तकसीम भी फरमाता है खजाने लोगों को अता करता है इल्म भी एक खजाना है और अल्लाह ताला इल्म के खजाने भी लोगों को अता फरमाता है और सबसे ज्यादा इल्म का खजाना उसने अपने मकबूल बंदों को अता फरमाया अम्बिया को अता फरमाया फरिश्तों को अता फरमाया अलिया को अता फरमाया और अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं होती तो जब हम ये अकीदा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने नबियों को ये इल्म दिया या हम कहते हैं कि नबियों के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना इल्म दिया तो इसमें दर हकीकत हम अल्लाह की शान बयान करते हैं हम किसकी शान बयान करते हैं अल्लाह की शान बयान करते हैं कि अल्लाह कैसा सखी है कि उसने अपने महबूब को इल्म के कितने खजाने अता फरमाए अल्लाह का जो इल्म है वो जाती है और महबूब बंदों का जो इल्म है वो अताई है अल्लाह की अता से है जाती और अताई कभी बराबर नहीं हो सकते इसकी मिसाल ये है कि समझाने के लिए वरना हमारे पास जो माल है वो सब अल्लाह की अता से है लेकिन समझाने के लिए मिसाल देते हैं कि एक शख्स अपना माल रखता है अब वो अपने माल में से किसी को अता करता है तो बताइए जो उसका माल है यानी जो मालदार खुद माल रखता है उसकी अहमियत में कोई कमी होगी बल्कि जिसको उसने माल अता किया और जिन्हें जिन्हें मालूम है वो यही कहेंगे इसके पास जो कुछ भी है वो उसी की अता है तो उसके माल को देख कर भी किसकी शान मालूम होगी उस देने वाले की उसके माल को देख कर भी उसकी शान मालूम होगी मसलन कोई शख्स है वो कई लोगों को मकानात देता है मकानात दिए उसने जो है कारोबार उन्हें जो कारोबार पे लगा दिया अब हम कहते हैं कि ये जो हजार आदमी है जिनके पास मकानात हैं जो अपना कारोबार कर रहे हैं इन हजार आदमियों को कारोबार और मकान देने वाला फला शख्स है तो बताइए इससे फला शख्स की शान में इजाफा होता है कि नहीं हमारे दिल में उसकी शान बढ़ती है तो जब हम अल्लाह के महबूब बंदों की शान का जिक्र करते हैं तो उससे दर हकीकत हम किसकी शान बयान करते हैं अल्लाह की शान बयान करते हैं कि उसके खजाने बहुत वसी हैं और वो जिसे चाहता है जितना चाहता है उसका फजल बड़ा वसी है वो जिसे चाहता है अता फरमाता है कंजूसी ये ऐब है और अल्लाह ताला इस ऐब से पाक है उसके खजानों में कोई कमी नहीं होती और उसका जो इल्म है वो जाती है और जिसे वो अता करता है वो इल्म क्या है अताई है जाती इल्म और अताई इल्म कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते तो यहाँ पर बाहर शरीयत में ये मसला लिखा अल्लाह अज्जवजल ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अपने गयूब पर इत्तला दी गयूब गैब की जमा जमीन और आसमान का हर जर्रा हर नबी के पेश नज़र है जमीन और आसमान का हर जर्रा हर नबी के पेश नज़र है मगर ये इल्म गैब ये जो इनके पास है वो अल्लाह के देने से है लिहाजा इनका ये इल्म जो है वो अताई है और अल्लाह का इल्म अताई नहीं हो सकता अल्लाह का इल्म अताई हो सकता है अल्लाह के लिए अताई इल्म मुहाल है नामुमकिन है क्योंकि उसकी कोई सिफत कोई कमाल किसी का दिया हुआ नहीं हो सकता बल्कि हर सिफत हर कमाल अल्लाह का जाती है तो आप बताइए कि नबियों के लिए जो हम इल्म मानते हैं वो कौन सा इल्म मानते हैं जोर से कहें अताई और अल्लाह के लिए अताई इल्म हो सकता है नहीं तो जो कहे कि ये तो तुमने अल्लाह के बराबर कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्लाह के लिए भी अताई इल्म मानता है तो हमने कहा कि अम्बिया के पास इल्म अताई है तो उसने कहा जी ये तो आपने अल्लाह के बराबर कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अल्लाह की शान को समझा ही नहीं वो अल्लाह के लिए भी कौन सा इल्म मान रहा है अताई मान रहा है तो अताई इल्म अल्लाह के लिए नामुमकिन है क्योंकि अताई इल्म का मतलब किसी ने दिया हो और अल्लाह ताला का हर कमाल हर वस्फ जो है वो जाती है जो लोग अम्बिया कराम बल्कि सईदुल अम्बिया सल्लल्लाहु से मुतलक इल्म गैब की नफी करते हैं देखिए इल्म गैब की तीन किस्में होती हैं एक तो है मुतलक इल्म गैब यानी कोई ये कहे कि अल्लाह ताला ने अपने नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि को गैब की एक भी बात नहीं बताई बिल्कुल भी इल्म नहीं दिया तो ऐसा शख्स काफिर है इसके कुफर में कोई शक नहीं है क्यों इसलिए कि जन्नत क्या है गैब है जहन्नम क्या है गैब है अजाब कब्र सवाब कब्र गैब है क्यामत के मामला सब गैब हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ने क़यामत तक के होने वाले जो वाक़यात बयान किए वो सब क्या हैं गैब हैं आपने जो मुस्तबिल की खबरें दी हैं वो सब क्या हैं गैब हैं आपने शब महराज आसमानों ज़मीन जन्नत जहन्नम का जो मुलाहजा किया वो सब क्या था गैब तो अगर कोई कहता है कि हजूर को अल्लाह ने गैब बिल्कुल नहीं दिया तो उसने इन तमाम बातों का इनकार किया वो क्या हो गया काफिर दूसरी सूरत यह है कि एक ऐसा शख्स है जो इन चीजों को तो मानता है इन चीजों को तो मानता है लेकिन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी इल्म गैब को नहीं मानता यानी वो ये नहीं मानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अव्वलीन और आखरीन का इल्म दिया वो कहता हाँ जन्नत का दिया जहन्नम का दिया ये मैं मानता हूँ जिस जिस की नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ने खबर दी उसका इल्म हुजूर को अल्लाह ने दिया लेकिन मैं कायनात के बनने से लेकर कयामत तक और कयामत के दिन का इल्म और फिर जन्नत और जहन्नम में जाने तक का इल्म नहीं मानता तो फिर इसकी दो सूरतें हैं ना मानने की एक सूरत तो यह है कि वो जहालत की वजह से नहीं मानता इल्म ना होने की वजह से उसे पता ही नहीं है तो उसके लिए हुक्म जो है वो नरम है लेकिन एक शख्स इसलिए नहीं मानता कि इसको रसूलुल्लाह की शान से बुग्ज है हर उस चीज को नहीं मानता जिसमें रसूलुल्लाह की शान हो तो फिर ऐसा शख्स यकीनन गुमराह है और वाकई बुग्ज रिसालत की वजह से नहीं मानता तो काफिर है हम आमतौर पर यह देखते हैं लोगों को कि लोग अगर किसी चीज का इनकार करते हैं तो बुग्ज रिसालत की वजह से इनकार करते हैं इसकी एक मिसाल हम आपको देते हैं आप बैठे हुए हों आप किसी से बात करें और कहें कि देखें मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कितनी ताकत रखते हैं एक हैं लेकिन पूरी दुनिया के अंदर हर एक को देख भी लेते हैं हर जगह पहुंच भी जाते हैं और हर जगह जाकर रूह भी कब्ज कर लेते हैं तो वह आपका इनकार नहीं करेगा फिर आप कहें कि देखें मुनकर नकीर में कितनी ताकत है कि दुनिया भर में लोग कब्रों में जाते हैं जहां जिसकी कब्र बने मुनकर नकीर वहां पहुंच जाते हैं तो इंसान इनकार नहीं करेगा आप हजरत मिकाइल सलाम की ताकत का जिक्र करें और कहें उनमें कितनी ताकतें देखें कि वो बारिश बरसाते हैं पूरी दुनिया में बारिश बरस रही है तो वो बरसा रहे हैं हर एक को जो लुकमा मिल रहा है हर एक को हर हर लुकमा हर हर जर्रा हर हर रोजी का हर हर जर्रा हजरत मिकाइल सलाम पहुंचा रहे हैं तो वो उसका भी इंकार नहीं करेगा आपसे बहस नहीं करेगा आपसे दलील नहीं मांगेगा हम आप कहें कि शैतान मरदूत जो है ये बड़ा खतरनाक है पूरी दुनिया में जो बड़ा शैतान है इबलीस वो एक है लेकिन पूरी दुनिया के लोगों को देखता भी है उनकी बातें भी सुनता है बल्कि बातें सुनना तो दूर की बात है जो दिल के अंदर हमारे ख्याल होते हैं वो भी जान लेता है हम कहते हैं ना कि मैंने नेकी का ख्याल किया तो शैतान ने मुझे बहका दिया तो इस ख्याल का पता कैसे चला शैतान को वो तो हमारे दिल के अंदर है तो हमारे दिल के ख्याल भी जान लेता है और हमें बहका देता है तो सामने वाला इंकार नहीं करेगा बहस नहीं करेगा दलील नहीं मांगेगा आपसे उलझेगा नहीं लड़ेगा नहीं झगड़ेगा नहीं अब आप कहें कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी मखलूक से ज्यादा ताकत अता फरमाए और आप कब्र अनवर में जलवा अफरोज होकर रोज़ अकदस में जलवा अफरोज होकर पूरी दुनिया को देखते हैं और आपकी हदीस है कि आपने फरमाया कि पूरी दुनिया मेरे लिए इस तरह है मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जैसे हाथ में राय का दाना हो मैं इस तरह पूरी दुनिया को देख रहा हूं और कयामत तक जो होने वाला है उसे भी देख रहा हूं आप उसे वो हदीस सुनाए कि बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ तिरमिजी अबू दाऊद इबन माजा हदीस की हर किताब में यह हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर से लेकर मगरिब तक आपने साहबाई कराम को अवलीन से लेकर आखरीन तक का इल्म अता फरमाया जो हो चुका जो होने वाला है सब साहबा कराम को बता दिया और साहबा कराम कहते हैं हम में सबसे बड़ा आलिम वो है जिसे रसूलुल्लाह की वो तकरीर याद है जिसे जितनी ज्यादा याद है उतना ही बड़ा आलिम है हजरत अबू हुरेरा कहते हैं कि हम भूल जाते हैं लेकिन ये बात जरूर थी कि एक वाक्य होता तो हमें याद आ जाता कि रसूलुल्लाह ने इस वाक्य की हमें खबर दी थी और फिर जिस तरह के एक जब कड़ी से कड़ी मिलती है तो हजरत अबू हुररा कहते हैं कि एक वाकया जब हमारे सामने होता तो उसकी कड़ी दूसरी याद आ जाती कि अब इसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया तो ये होगा फिर वो वाकया होता तो तीसरा वाकया याद आ जाता और तिरमिदी शरीफ की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने अपनी खास तजल्ली मेरे दोनों कंधों के दरमियान नाजिल फरमाई अलिम तुमा फिस समावात वल अर्थ तो आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ने मुझे सब कुछ सिखा दिया बस आप इतना कह दें जो मलकुल मौत हजरत मीकाइल हजरत मुनकर नकीर यहां तक के शैतान के इल्म पर आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं था अब रसूल्ला की शान सुनकर आग बगोला हो जाएगा बहस करना शुरू कर देगा इनकार करेगा लड़ना शुरू हो जाएगा मैं नहीं मानता जनाब हम के हदीस में बोला हदीस नहीं मानता मैं तो अब इसका मतलब क्या हुआ मतलब वाज जाहिर है कि इसे रसूल्ला के मकाम और मरतबे को तस्लीम करने से जो चीज़ रोक रही है वो दिल में मुनाफकत है दिल में क्या है मुनाफकत है अगर रसूलुल्लाह की सच्ची पक्की मोहब्बत होती तो इन अहादीस की रोशनी में और कुरान की आयतों की रोशनी में वो कभी बहस ना करता और फौरन मान लेता अच्छा फिर वो कहता है ये तो शिरक है वो क्या कहता है ये तो शिरक है कि भाई कोई एक जात हो और वो सारी दुनिया को देखे हर आदमी की आवाज़ भी सुने हर आदमी के दिल की बात भी जान ले ये तो अल्लाह की शान है ये तो शिरक हो गया तो हम उससे ये पूछें कि अभी तो मैंने तुम्हें शैतान के बारे में कहा था कि शैतान जो है वो एक है और सबकी आवाज़ भी सुनता है सबकी दिल की बातें भी जान लेता है और सबको देख भी लेता है तो कहेगा नहीं उसमें कोई हर्ज नहीं अब आप बताएं शिर के माना क्या है अल्लाह के बराबर किसी को समझना अगर ये ताकत मानना शिरक है तो फिर शैतान के लिए भी शिरक होना चाहिए शैतान के लिए कुत मान लेगा रसूलुल्लाह के लिए नहीं मानेगा इसकी दलील क्या हुई कि इसके दिल में सिर्फ बुग्ज रिसालत है बाकी और कोई बात नहीं तो अदीस तैयबा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि की इल्म की शान बयान की गई अब जब आप वो अहदीस पेश करेंगे कि जिसमें इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने आपको अवलिन आखरीन का इल्म दे दिया किताब है अकीदा इल्म गैर सही बुखारी की रोशनी में मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने लिखी है और बुखारी की हदीसें जमा की हैं और उसके हवाले दिए हैं मौलाना अब्दुल कादिर साहब की लिखी हुई किताब है जिसका नाम है अकीदा इल्म गैब सही बुखारी की रोशनी में अब देखें उसमें कई हदीसें हैं हवाले हैं पचास पचास हदीस की किताबों के हवाले हैं आप जब वो सारी बातें पेश कर दें कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह के लिए इल्म वसी का जिक्र है तो वो पता ही क्या करेगा वो इन अहादीस के जवाब में यानी सही अहादीस को मानने के बजाय अहादीस के जवाब में क्या पेश करेगा पेश ये करेगा कि हजरत आयशा का जब हार खो गया था और तयम की आयतें उतरी थी तो रसूलुल्लाह ने फरमाया भाई हार ढूंढो सब हार ढूंढते रहे और वहां नमाज का वक्त हो गया वहां पानी नहीं था लोग बड़े परेशान हुए और हजरत सिद्दीक अकबर आकर जो है हजरत आयशा से कहने लगे कि तेरी वजह से सबको तकलीफ हुई है देखो हार खो गया अब सब ढूंढ रहे हैं नमाज का वक्त हो गया उस वक्त तक तयम का हुक्म नहीं आया था वजू था और गुसल अब ये पहला मौका ऐसा था कि नमाज का वक्त हो गया और पानी नहीं था जंगल वीरान में मौजूद थे तो साहबाई कलाम अली मरिदवान परेशान थे तो तयम की आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि अगर पानी ना हो तो तयम कर लिया करो जब सबने तयम करके नमाज पढ़ ली तो हजरत आयशा के ऊंट को उठाया गया तो ऊंट के नीचे से हार निकला और फिर साहब कराम अली मरिदवान ने हजरत आयशा के मुतालिक और जो हजरत आयशा के महरम रिश्तेदार थे उन्होंने हजरत आयशा को जाकर मुबारकबाद दी और फरमाया ए आयशा आपकी बरकत से अल्लाह ने हमें तयम मता फरमाया अब यह कितनी प्यारी बात है कि ये हार ढूंढने की वजह से हमेशा के लिए उम्मत पर रहम हो गया और तयम की आयतें मिल गई और साहबा कहते हैं हजरत आयशा की एक बरकत है जो अल्लाह ने हमें कयामत तक अता फरमा लेकिन वो तमाम सही अहादीस के कोई जवाब नहीं दे सकता कि जिसमें है कि अल्लाह ने मुझे जमीन और आसमान की हर हर बात का इल्म दे दिया वो इसका जवाब नहीं देगा बल्कि क्या कहेगा देखो अगर हर हर बात का इल्म था तो फिर हजरत आयशा के जो हार खो गया था तो हुजूर कह देते भाई इस ऊंट के नीचे हार है उठाओ ऊंट और चलते बनो किसी अजीब गरीब सोच है तो पहली बात तो यह है कि जो आदि सही है जिसमें रसुल्ला खुद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जमीन आसमान की हर हर बात का इल्म दे दिया क्या रसूल्ला झूठ बोल रहे हैं तो हमने तो रसुल्ला के फरमान की वजह से अकीदा बनाया तो जब रसूल्ला ये कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा अच्छा जहां तक हार का मसला है तो अब बताइए जबरील को भेजते हुए देर लगती है अल्लाह ताला को तो पता ही था कि हार कहाँ है अल्लाह जबरील को भेज देता और फरमाया जाता भाई ऊँट उठाएं और चलते बने लेकिन अल्लाह तबारक वाली ने जबरील अमीन को क्यों नहीं भेजा तो क्या अल्लाह को नहीं पता था फिर आप बताएं कि लोहे महफूज में जो कुरान मजीद फुकान अमीर लिखा था उसका नजूल जरूरी था कि नहीं लोहे महफूज में तो कुरान पहले से लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है उसका नाजिल होना तो जरूरी है अगर हजूर सल्ला वसलम चले जाते हैं तो जो लोहे महफूज में लिखा था कि इस जगह पर तयम की आयतें नाजिल होंगी वो आयतें फिर कैसे नाजिल होती हैं तो इसमें हिकमतें थी क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ताकत का इजहार जरूर किया लेकिन जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया देखें एक आम काफी ये सवाल कर सकता है कि भाई इतनी जंगे हुए हैं इन जंगों में जगह जगह है कि इन माकुम अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है जगह जगह अहदीस में रिवायतों में है कि ये साहबा कराम की जो जमात थी ये अल्लाह वाले थे और अल्लाह उनके साथ था अल्लाह की मदद करीब है लेकिन क्या वजह है कई साहब करम शहीद हो गए कई साहब करम जख्मी हुए कई जंगों में मुसलमानों को नुकसान भी हुआ बास जंगों में शिकस्त भी हुई तो सवाल यह है कि जब अल्लाह उनके साथ है अल्लाह उनकी मदद करेगा और अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है तो फिर अल्लाह मदद फरमाए तो दुनिया के सारे काफिर मिल जाएं एक मुसलमान का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते अल्लाह तो अल्लाह तबारक वाली ने हमें निज़ाम दिया कि अल्लाह की मदद तो यकीन तुम्हारे करीब है लेकिन मदद के अंदाज मुख्तलिफ है और मुसीबत पर सब्र कर लेना यह भी अल्लाह की मदद है और शहादत पा लेना यह भी अल्लाह की मदद है तो कहने का मकसद ये है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फूंक मारते और सारे काफिर मर जाते हैं हर जंग के अंदर रसूल्ला यही करते हैं तो नतीजा क्या होता नतीजा ये होता कि फिर हम जब आज दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह की सीरत लेकर बैठते हैं और हम कहते कि रसूल्ला की सीरत में हमारे लिए क्या मिसाल है तो हम कहते कि भाई हम हम तो फूक मार कर काफरों को मार नहीं सकते लिहाजा क्या है हमारे हम तो अब काफरों का मुकाबला कर ही नहीं सकते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर बांधकर मुजाहिदात करके जख्म खा के मुशक्क़तें करके सिखाया देखो दीन की खिदमत यूं करनी वरना अल्लाह चाहे तो एक लम्हे के अंदर सबको मुसलमान कर दे कि अल्लाह कर सकता है कि नहीं लेकिन हमें तरीका सिखाया गया रहती दुनिया तक तो ये तरीका था कि अगर कोई चीज खो जाए इस वाक़े में इबरत थी भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में दुनिया की कोई वक़त है बताइए तो एक तरीका यह भी था मैं हार खो गया फरमाते चलो सब छोड़ो हार की क्या हैसियत है हार कितने का होगा अगर दस लाख का भी हो तो रसूलुल्लाह की नज़र में कोई वक़्त नहीं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया कि किसी चीज का जिया करना यह अच्छी बात नहीं है अगर कोई चीज खो गई तो उसको ढूंढना यह भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है और फिर तयम की आयतें ना जरूरी तो इस तरह की अच्छा फिर इन हदीसों के मुकाबले में बाप के सामने शुरू हो जाएगा और कहेगा देखें हजरत आयशा पर तोहमत लगी और आप पर जब मुनाफिकों ने तोहमत लगाई तो रसूल सल्लल्लाहु वसलम ने खुद ही क्यों नहीं कह दिया कि भाई ये मुनाफिक झूठे हैं और मेरी जोजा जो है वो पाक साफ है तो हुजूर को पता ही नहीं था कि वो पाक साफ हैं या नहीं है नऊजुबिल्लाजाल अब देखें क्या सरी वाज हदीस है कि जिसमें रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे ज़मीन और आसमान के हर जर्रे का इल्म दे दिया और कहा अकल की मन घड़त बातें भाई कहाँ इस वाक्य के अंदर और कहा वो मामला तो सीधी सी बात है आप मुझे बताइए कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर तहकीकात किए ये कह देते तो मोमिनीन को कोई शक था मोमिनीन तो मानते थे कि हजरत आयशा पाकबाज हैं लेकिन जो रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ते थे जिहाद में शरीक होते थे कुरान पढ़ते थे लेकिन दिल में रसूलुल्लाह का बोक्स था जो मुनाफिकीन थे वो तो नहीं मानते थे तो वो क्या कहते हैं अपनी बीवी का मसला आया अपनी जोजा का मसला आया तो तहकीक ही नहीं की बोला नहीं मेरी जोजा ऐसी है ही नहीं तो वो तो मानते ही नहीं ना तो उनका प्रोपेगेंडा जारी रहता नबी अक्रम सल्लल्लाहु ने ये बताया कि देखो किसी का भी मामला हो मेरे करीबी फर्द का भी मामला हो तो मैं तहकीकत करने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं करता हजरत आयशा को आपने मेके भेज दिया सिद्दीक अकबर के घर हजरत आयशा से आपने पूछा साहबा कराम से पूछा जो बातें कर रहे थे उनसे पूछा और फिर आपने हजरत उमर से कहा हजरत उस्मान से कहा हजरत अली वो सब खड़े हो रहे हैं हजरत उमर वो कह रहे हैं हजरत उस्मान कह रहे हैं हजरत अली कह रहे हैं तमाम साहब कराम खड़े होकर कह रहे हैं जैसे हजरत उमर की हदीस है हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह हजरत आयशा से निका तो अल्लाह ने पढ़ाया तो क्या अल्लाह ऐसी औरत को आपके निकाह में दे सकता है कोई साहबी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला ने आपके जिसम को मक्खी के बैठने से महफूज बनाया क्योंकि मक्खी गंदगी से आती है तो वो गंदगी से उठ कर आती है तो आपके जिसम पर मक्खी नहीं बैठ सकती तो ऐसी औरत आपके निकाह में कैसे दाखिल हो सकती है तो किसी साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह आपका साया जमीन पर नहीं पड़ता कि साय पर किसी का पाँव ना पड़ जाए तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी जोजा ये काम करे तो साहबा कराम ने ये ये गुफ्तु की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ने मंबर पर जलवा अफरोज होकर बुखारी शरीफ की हदीस आपने फरमाया मेरे घर वाले ऐसा काम कर ही नहीं सकते फिर सत्रह आयतें नाजिल हुई कितनी आयतें सत्रह और मुसलमानों से कहा गया कि मुसलमानों जब ये बात तुमने सुनी तो तुमने ये क्यों नहीं कहा कि ये बहुतान अजीम है ये झूठी बात है क्योंकि जो किसी औरत पर इल्जाम लगाए वो चार गवाह पेश करे और चार गवाह ना पेश कर सके तो उसे अस्सी कोड़े मारे जाए तो फिर मुनाफिकीन को अस्सी कोड़े मारे गए तो आप बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बदगुमानी कर सकते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस किस्म का कोई ख्याल आपको आ ही नहीं सकता तो ये सारी मसलियतें क्या थी सत्रह आयतें नाजिल होनी थी और फिर मामला बहुत बड़ा था तो इसलिए उसका इस कदर एहतमाम किया गया और एक आसान सी बात है क्या अल्लाह को पता नहीं था बताइए अल्लाह को तो पता है तो अल्लाह ताला ने एक महीने तक कुरान की कोई आयत नाजिल नहीं की जबरील को नाजिल नहीं फरमाया अल्लाह फरमा देता भाई परेशान होने वाली कोई बात नहीं और जबरील आकर कह देते तो अगर ये ऐसा हो जाता तो बताइए ये सत्रह आयतें कुरान में नाजिल होती हजरत आयशा फरमाती है कि मुझे ये तो यकीन था कि अल्लाह तबारा का ताली मेरी बारात को जाहिर फरमाएगा लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरे लिए अल्लाह सत्रह आयत नाजिल करेगा कि कयामत तक लोग पढ़ते रहेंगे तो ये मसलियतें हैं तो उन हदीसों के जवाब में ये वाकयात पेश करना कोई हैसियत ही नहीं रखता इसमें कहा है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया हो कि मुझे पता नहीं है या मुझे इस बात का इल्म नहीं है तो बात ये हो रही थी कि एक है इल्म का इनकार करना हजूर की शान का इनकार करना बुग्स की वजह से तो अगर ऐसा बुग्स है तो ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज है कि वो हजूर की शान का इनकार सिर्फ और सिर्फ नफरत की वजह से कर रहा कुरान मजीद फकान हमीद में बास जगह पर है कि अल्लाह ताला गैब को जानने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है और बाज़ मकाम पर है कि अल्लाह ताला गैब का इल्म अपने ख़ास रसूलों को अता फरमाता है जैसे सूर्य जिन में है सूर्य आल इमरान में है और सूर्य जिन की आयत करीमा आप इसे नोट कर लें सूर्य जिन आयत नंबर छब्बीस और सत्ताईस आलिम गईबी फला युजहिर अला गईबी आहदन गैब का जानने वाला अल्लाह किसी को भी गैब का इल्म नहीं देता इल्ला मगर मन तबा मिर रसूल वो अपने रसूलों को चुन लेता है और उन्हें गैब अता फरमाता है फ़ैन नहू यसलुकू मिम्बई यदई व मिन खल्फी हौसदन तो जब गैब की बातें नाजिल की जाती हैं तो चारों तरफ से फरिश्ते पहरा देते हैं और जिन्नात उस गैब के इल्म को हासिल नहीं कर सकते ये सूर्य जिन में है सऊदी अरब से वापसी हो रही थी तो एयरपोर्ट पर हमें एक कुरान पाक दिया गया उसमें कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर थी तो एक गैर आलिम को तो ये चीज़ें लेनी ही नहीं चाहिए लेकिन जो आलिम दीन है या जिसके ऐसे मामला हैं कि लोगों को बताना पड़ता है तो हमने वो ले लिया कि देखेंगे कि इन्होंने क्या हरकतें की हैं तो एक मकाम पर मैंने देखा तो उसमें यह लिखा है कि गैब का इल्म अल्लाह किसी को नहीं देता गैब का इल्म अल्लाह किसी को नहीं देता सुर जिन आयत नंबर छब्बीस और उसने ये आयत लिखी है आलिम गईबी फला युजहिर वाला गईबी आहादन आगे नहीं लिखा हालांकि आहादन पर ला लिखा हुआ है ला का मतलब होता है यहां पर रुकना जायज नहीं है तो वो आहादन कहकर बस रुक गया है और उसने इसका तर्जमा किया है कि गैब का जानने वाला किसी को भी गैब का इल्म नहीं देता आगे ना इला मनिर तदामिर रसूल लेकिन अपने रसूलों को चुन लेता है और उन्हें देता है उसका जिक्र नहीं किया तो ये खयानत है ये यहूदियत है कि यहूदी भी ये करते थे कि वो आयतों को तोड़ मोड़ कर पेश करते थे तो जब कुरानी मजीद फुकान हमीद में वाज तौर पर है कि हर किसी को नहीं देता लेकिन अपने रसूलों को देता है तो आगे का हिस्सा नहीं लिखा आलिम गईबी फला युधिर वाला गईबी आहदन यहां तक लिखा और फिर इसके बाद लिखा कि जब अल्लाह खुद फरमा रहा है कि अल्लाह किसी को भी गैब का इल्म नहीं देता तो फिर हमें हदीसों को मानने की जरूरत ही क्या है इस तरह की बातों को और उसने सारी बातों को रद्द कर दिया और कहा कि नबियों को बिल्कुल गैब का इल्म नहीं नाउजुबिल्लाजाल और यह आयत करीमा सूर्य जिन में है असल में यहां पर जिन्नात का रद्द किया गया कि जिन्नात जो है वो ये अकीदा रखते थे कि हमें गैब का इल्म मिलता है तो फरमाया कि अल्लाह ताला अपने रसूलों को गैब का इल्म देता है लेकिन चारों तरफ से फिरिश्तों का पहरा होता है और उस गैब के इल्म की कोई बात जिन्नात हासिल नहीं कर सकते इसलिए जिन्नात से मुस्तबिल फ्यूचर की कोई बात पूछना हराम है और अगर ये अकीदा हो कि ये फ्यूचर की कोई बात जानते हैं तो ये अकीदा रखना ये कुफर है क्योंकि जिन्नात जो हैं उन्हें इल्म गैब अल्लाह ताला नहीं अता फरमाता तो जो बाज आयतों से ये कहते हैं कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के लिए है और वो आयतें जिसमें रसूलों को इल्म गैब मिलने का जिक्र है उसका इनकार करते हैं तो क्या हो गया किसी आयत पर ईमान लाना और किसी आयत का इनकार करना और ये भी क्या है कुफर है सूर्य बकर आयत नंबर पिचासी में है एटी फाइव में अपतु मीनू नबिबादिल किताब व फुरु नबिबाद क्या तुम अल्लाह की किताब का कुछ हिस्सा मानते हो और कुछ हिस्से का तुम इनकार करते हो अम्बिया कराम तमाम मखलूक यहाँ तक के मलाइका में जो रसूल है उससे भी अम्बिया अफजल है फरिश्तों में भी रसूल होते हैं और फरिश्तों में जो रसूल हैं उनकी दो ड्यूटियां होती हैं एक तो ड्यूटी ये होती है कि अल्लाह के हुक्म को वो फरिश्तों तक पहुंचाते हैं और दूसरी ड्यूटी ये होती है कि वह अल्लाह के हुक्म को नबी तक पहुंचाते हैं तो फरिश्तों के जो रसूल हैं उनसे भी अम्बिया जो हैं वो अफजल हैं वली कितना ही बड़े मर्तबे वाला हो किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता जो किसी गैर नबी को किसी नबी से अफजल या बराबर बताए का फिर है तो एक गिरोह ऐसा है जिसका अकीदा यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि के बाद हजरत अली का दर्जा है और हजरत अली को वो तमाम नबियों से अफजल मानते हैं यह अकीदा कुफर है वो कहते हैं रसूलुल्लाह के बाद हजरत अली का दर्जा है और हजरत अली जो है वह तमाम नबियों से अफजल है यह अकीदा कुफर है अहल सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तु अफजल हैं मगर अम्बिया और रसुल के बाद अम्बिया और रसुल के बाद जो सबसे पहला जो दर्जा है वो सिद्दीक अकबर का है लेकिन अम्बिया से ऊपर नहीं है उनका दर्जा यह अम्बिया के बराबर नहीं है इसी तरह उन लोगों का यह भी अकीदा है कि असल नबूबत तो हजरत अली के लिए थी अल्लाह तला ने जबरील को हुक्म दिया था कि हजरत अली पर नाजिल हो लेकिन जबरील से गलती हो गई और वो वही लेकर हुजूर के पास आ गए तो इस तरह उन्होंने रसूलुल्लाह से भी अफजल किसको मान लिया हजरत अली को और ये कुफर है तो हजरत अली से मोहब्बत होना और चीज है और मोहब्बत में गुलू करना और चीज है तो हजरत अली को हुजूर से अफजल मानना या हजरत अली को अम्बिया से अफजल मानना ये मोहब्बत में गुलू है और ये हराम है और ये कुफर है नबी की ताजीम फर्ज ऐन है बल्कि असल तमाम फराइज है किसी नबी की अदना तोहन या तकजीब कुफर है हजरत आदम सलाम से लेकर हमारे हजूर सैद आलम सल्लल्लाहु तक अल्लाह ने बहुत से नबी भेजे कुछ नबियों का जिक्र वजाहत के साथ कुरान पाक में है और अक्सर नबियों के नाम कुरान हदीस में जिक्र नहीं किए गए जिनके नाम कुरान हदीस में है यानी कुरने पाक में है जिन अम्बिया के नाम कुरान पाक में हैं उनमें हज़रत आदम सलाम नू सलाम हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माईल हज़रत इसहाक़ हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ हज़रत मूसा हज़रत हारून हज़रत शुएब हज़रत लूत हज़रत हूद हज़रत दाऊद हज़रत सुलेमान हज़रत अयूब हज़रत इलियास हज़रत जकरिया हज़रत याहिया हज़रत ईसा हज़रत अलयसा हज़रत यूनुस हजरत इदरीस हजरत जुल्किफल हजरत सालेह और हजूर सैद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी गोया के तकरीबन कुरान पाक में पच्चीस नबियों का जिक्र है और अहदीस तैयबा में ये फरमाया गया कि नबियों की तादाद जो है वो कम व बेश एक लाख चौबीस हजार है एक लाख चौबीस हजार लेकिन ये कम वेश है मतलब ये कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ईमान एक लाख चौबीस हजार नबियों पर है बल्कि हम कहेंगे हमारा ईमान हमारा ईमान तमाम नबियों पर है तो जितने भी हों क्योंकि ये तादाद फिक्स हमें मालूम नहीं हजरत आदम सलाम को अल्लाह ताला ने बे माँ बाप के मट्टी से पैदा किया एक अकीदा जो किताबों में पढ़ाया जाता है कि जिसको साइंस का एक शोबा बनाया गया है और उनका कहना यह है कि तमाम जो भी चीज़ें हैं वो बदतदरीज मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती हैं मसलन आप देखें भेड़ है दुम्बा है मेंढा है तो तीनों की शक्लें मिलती जुलती हैं इसी तरह बकरी और हिरन की शक्ल मिलती है इसी तरह आप देखें तो कुत्ता है भेड़िया है लोमड़ी है तो इन तीनों की शक्लें मिलती हैं तो ये क्या कहते हैं कि पहले जो है वो छोटा जानवर था फिर बड़ा हुआ फिर उससे बड़ा हुआ इसी तरह बंदर है बनबानस है और इंसान तो कहते हैं कि इनकी शक्लें मिलती जुलती हैं तो पहले वो बंदर था फिर बड़ा हुआ फिर बड़ा हुआ फिर बड़ा हुआ फिर तरक्की करते करते इंसान बन गया ये इनके सिर्फ ख्याल हैं मुसलमानों का अकीदा ये है कि अल्लाह ने बंदर को भी पैदा किया बनबानस को भी पैदा किया भेड़ को भी पैदा किया दुम्बे को भी पैदा किया अल्लाह ताला ने सारी मखलूक को पैदा किया और इंसान को भी अल्लाह ही ने पैदा किया और इंसान किसी जानवर की तरक्की याफ्ता शक्ल नहीं है तो जो ये अकीदा रखे कि पहले इंसान बंदर था और तरक्की करते करते इंसान बन गया ये अकीदा कुफर है क्योंकि ये कुरान और हदीस की सरी बातों के खिलाफ है क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाना चाहता हूँ कुरान और हदीस की जो तालीमत हैं कि अल्लाह ताला ने मट्टी से आदम सलाम का जिसम जो तैयार फरमाया फिर उसमें रूह फूकी और जब रूह जो है आप की जबान पर आई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा ये सारी सही अदीस में मौजूद है तो हमारा यही अकीदा है कि डायरेक्ट अल्लाह ताला ने हजरत आदम सलाम को मट्टी से पैदा फरमाया और फिर आदम सलाम की पसली से हजरत हवा को पैदा किया और फिर इन दोनों से अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा फरमाया हजरत आदम को अल्लाह ने अपना खलीफा किया और तमाम चीजों का इल्म और तमाम चीजों के नामों का इल्म दिया फरिश्तों को हुक्म दिया कि उनको सद्दा करें सबने सद्दा किया शैतान के बारे में जो सही अकीदा है वो ये कि शैतान जिन था फरिश्ता नहीं था लेकिन चूंकि बहुत बड़ा आबिद और जाहिर था इसलिए फरिश्तों के गिरोह में शुमार होता था इसने इनकार कर दिया और हमेशा के लिए मरदूद हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इंसान का वजूद न था बल्कि सब इंसान उन्हीं की औलाद हैं इसी वजह से इंसान को आदमी कहते हैं यानी औलाद आदम और हजरत आदम सलाम को अबुल बशर कहते हैं यानी सब इंसानों के बाद नबी और रसूल नबी और रसूल तो तकरीबन एक लाख चौबीस हजार नबी अल्लाह ताला ने भेजे और उन एक लाख चौबीस हजार कम उबेश अम्बिया में से तीन सौ तेरह रसूल थे रसूल का मतलब ये होता है कि वो नई शरीयत लेकर आए हों या किताब लेकर आए हों या सहीफा लेकर आए हों पिछले अहकाम में उन्होंने तब्दीली की हो तो हजरत आदम आलाम पहले नबी हैं और हजरत नू सलाम पहले रसूल हैं तीन सौ तेरह रसूल हैं और चार मुरसल हैं इन तीन सौ तेरह रसूलों में से मुरसल उस रसूल को कहते हैं कि जो आसमानी किताब लेकर आए यानी तो जो है वो हज़रत मूसा सलाम पर ज़बूर हज़रत दाऊद सलाम पर इंजील हज़रत ईसा सलाम पर और क़ुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि पर तो ये चार जो रसूल हैं नबी हैं इनको मुरसल कहते हैं तो जिन्हें आसमानी किताबें मिली उन्हें मुरसल कहते हैं और जितने भी नबी हैं कि जो नई शरीयत लेकर आए पिछली शरीय के अहकाम में उन्होंने कोई तब्दीली की या कोई सहीफा लेकर आए या किताब लेकर आए उन्हें रसूल कहते हैं और इनकी तादाद तीन सौ तेरह है और इसके अलावा जो नबी हैं उनकी टोटल तादाद जो है वो एक लाख चौबीस हजार कम वेश सबसे पहले रसूल जो कुफार पर भेजे गए हजरत नू आसलाम उन्होंने साढ़े नौ सौ बरस हिदायत फरमाई उनके जमाने के कुफार बहुत सख्त थे हर किस्म की तकलीफें पहुंचाते मजाक करते इतने अरसे में गिनती के लोग मुसलमान हुए बाकियों को जब आपने देखा कि वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे और ये कुफर से बाज नहीं आएंगे तो मजबूर होकर अपने रब के हजूर उनके हलाक होने की दुआ की ये तूफान आया सारी जमीन डूब गई गिनती के मुसलमान और हर जानवर का एक एक जोड़ा जो कश्ती में ले लिया गया था वो बच गया बाकी सब हलाक हो गए फिर जो कश्ती में बहत्तर या अठहत्तर या अस्सी या जितने भी अफराध सवार थे मुसलमान उनमें से किसी की नस्ल नहीं चली नस्ल सिर्फ और सिर्फ हजरत नू आसलाम की चली है आपके तीन बेटे जो कश्ती में सवार थे वो मोमिन थे उन्हीं से फिर नस्ल इंसानी का सिलसिला चला और अब जितने भी इंसान हैं वो सब नू आसलाम की औलाद से हैं और नू आसलाम आदम आसलाम की औलाद से हैं तो इसलिए आदम सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं और नू आसलाम तूफान नू के बाद तमाम इंसानों के बाप हैं अंबिया की कोई तादाद मुन करना जायज़ नहीं कि खबरें इस बारे में मुख्तलिफ हैं अगर हम मुन तादाद पर ईमान लाएंगे तो इससे नुकसान क्या है इससे नुकसान ये है कि हो सकता है एक लाख चौबीस हजार से कम नबी आए हों तो हमने ज्यादा मान लिए तो गैर नबी को नबी मान लिया ये भी कुफर है और हम कहें एक लाख चौबीस हजार और उससे ऊपर नबी हों तो हमने किसी नबी की नबूबत का इनकार कर दिया तो इसलिए हम कहते हैं तमाम नबियों पर हमारा ईमान है क्या कहते हैं लिहाजा ये एतकाद चाहिए कि अल्लाह के हर नबी पर हमारा ईमान है नबियों के मुख्तलिफ दर्जे हैं बाज को बाज पर फजीलत है सब में अफजल हमारे आका मौला सैदुलमरसलिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हुजूर के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हजरत इब्राहिम खलील्ला का है फिर हज़रत मूसा आसमाम फिर हज़रत ईसा सलाम और हज़रत नू आसमाम हजू सल्लाम अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहिम हज़रत मूसा हज़रत ईसा हज़रत नू ये पांच नबी हुए ये तमाम नबियों में अफजल हैं तमाम रसूलों से अफजल हैं इन हजरात को मुरसलीन उलुल अज़म कहते हैं क्या कहते हैं मुरसलीन उलुल अज़म जैसा कि सूर्य अहकौफ छब्बीसवें पारे में है आयत नंबर पैंतीस में है फसमिर कमा सबर उल अजम मिनर रसुल तो यहां पर उल आजम रसूलों का जिक्र किया गया तो उल आजम जो रसूल हैं वो पांच हैं और कौन कौन से हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फिर हजरत इब्राहिम सलाम फिर मूसा सलाम फिर ईसा आल सलाम फिर नू सलाम यही तरतीब है सबसे अफजल रसूलुल्लाह फिर इसके बाद हजरत इब्राहिम फिर इसके बाद हजरत मूसा फिर हजरत ईसा फिर हजरत नू आसलम पांचों हजरात बाकी तमाम अम्बिया मुरसलीन इंसान फरिश्तों जिन्नात से और तमाम मखलूक से अफजल हैं यानी ये पांच नबी जो हैं तमाम मखलूक से अफजल हैं और जिस तरह हुजूर तमाम रसूलों के सरदार हैं और सबसे अफजल हैं बिना तशबी हुजूर के सदक़े में हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है सुर आल इमरान आयत नंबर 110 कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास आज तक जितनी उम्मतें आई उनमें तुम सबसे अफजल उम्मत हो तमाम अम्बिया अल्लाह अज्जल के हजूर अजीम वजाहत और इज्जत वाले हैं इनको अल्लाह ताला के नज़दीक माज अल्लाह चोड़े चमार की मिसल कहना खुली गुस्ताखी और कलमय कुफर है यानी कोई कहे कि हर छोटा और बड़ा अल्लाह के सामने चोरे चमार से भी ज्यादा जलील है तो ये कल कलम कुफर है और ये बात इस्माइल देलवी ने अपनी किताब जिसका नाम उसने रखा तकवीयतुल ईमान उसमें ये बात लिखी तकवीयतुल ईमान इस्माइल देलवी ने यह बात कही और अभी ये बात गुजरी कि तमाम रसूलों में अफजल जो है वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि है तो बाज हजरात जो है इसका इनकार करते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि को तमाम नबियों से अफजल नहीं मानते तो वो कुरान की आयत का गलत मफहम बयान करते हैं और हदीसों का गलत मफहम बयान करते हैं हालांकि आप अगर देखना चाहें तो तीसरे पारे की इब्तदा को देख लें तिल कर रसुल बादम ये रसूल हैं कि जिनमें बाज को बाज पर हमने फजीलत दी तो अगर कोई कहे कि एक रसूल को दूसरे रसूल पर कोई फजीलत हासिल नहीं तो सीधा सीधा किसका इनकार है कुरान की शायद का इनकार है और डॉक्टर इसरार अहमद जो है वो इसका इनकार करते थे और वो ये कहते थे कि रसूल सल्लल्लाहु वसलम किसी नबी से अफजल नहीं है अल्लाह ताला हमें इस गलत अकीदे से महफूज फरमाए और वो आयत करीमा ये पढ़ते थे वला नफर बैन आहदिम रसुल हम किसी रसूल के दरमियान फर्क नहीं करते तो वहां मुफसरीन ने और अहादी से तयबा में वाज तौर पर जिक्र है कि यहां फर्क नहीं करते से मुराद हम सब पर ईमान रखते हैं क्या मुराद है हम फर्क नहीं करते मतलब ये नहीं कि हम ईसा सलाम पर ईमान रखें और मूसा सलाम पर ईमान न रखें तो जो लानफरबीन रसूली का मतलब है कि हम तमाम नबियों पर ईमान रखते हैं तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं तो इनकी नजर में ये आयत इस तरफ इनकी यानी अब क्या कहिए कि तिल कर रसूल फद्दलना बाज़ाबाद आयत है कि ये रसूल हैं कि बाज को हमने बाज में फजीलत दी तो वो इस अकीदे से महरूम रहे अल्लाह ताला हमें सही अकीदे पर हमेशगी अता फरमाए नबी के दावे नबूवत में सच्चे होने की दलील ये होती है कि नबी जो है वो अपने दावे के मुताबिक मुआजा दिखाता है तो मुआजे का इनकार भी कुफर है कादियानी जो है कादियानी सर सैद अहमद खान गुलाम अहमद परवेज तीन नाम याद रखें कादियानी सर सैद अहमद खान कादियानी तो एक पूरा फिर है सर सैद अहमद खान उन्होंने एक फिर बनाने की कोशिश की लेकिन वो बना ना सके और गुलाम अहमद परवेज़ इसने एक फिरका बनाने की कोशिश की वो फिरका तो ना बना सका लेकिन उसके नजरियात लोगों के जहनों में हैं वो कई हदीसों का इनकार करता है बल्कि देखा जाए तो गुलाम अहमद परवेज जो है वो इनकार हदीस का फिरका है परवेजी फिरका लेकिन वो क्या करते हैं बड़ी चाल बड़ी चालाकी से हदीस का इनकार करते हैं वो कोई हदीस पेश करेंगे तो उन्होंने अकीदा ये बनाया हुआ है कि जो कुरान में बात लिखी हुई है अगर हदीस में वो बात है जो कुरान में नहीं तो हम उस हदीस को नहीं मानेंगे ये अकीदा बनाते हैं अब कुरान पाक में कोई बात है मसलन हजरत आदम सलाम का वाकया तो उसकी तफसील हदीस में है तो वो हदीस में जो तफसील है उसको नहीं मानते कहते कुरान में जो लिखा हुआ है वही मानेंगे और हदीस वही मानेंगे जो कुरान के अल्फाज और हदीस के अल्फाज एक ही हों तो उनसे किसी ने पूछा ये गुलाम अहमद परवेज जब दर से दरस दर से कुरान दे रहा था तो एक बंदा खड़ा हो गया और ये अंग्रेजों के दौर का है कोई ज्यादा पुराना नहीं है तो एक शख्स खड़ा हो गया और उसने कहा कि गदा जो है ये खाना हलाल है कि हराम है गदा खाना हलाल है कि हराम है तो इसने कहा हराम है तो कहा बताओ कुरान में किधर लिखा है फजर की कितनी रकतें हैं दो रकतें फर्ज है बताओ कुरान में कहाँ लिखी है जोहर की चार रकात फर्ज है बताओ कुरान में कहाँ लिखी है फिर उसने वो हदीस पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया और फरमाया एक वक्त वो आएगा एक मोटे पेट वाला गुलाम अहमद परवेज का पेट जो है बाहर की तरफ निकला हुआ था तकिए पर टेक लगाकर बैठा होगा तख्त पर तो उस वक्त जब उसने बात कही थी तो वो तख्त पर बैठा हुआ था और तकिए पर टेक लगाया हुआ था उसका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ था तो उसने कहा मुझे लगता है कि जो हदीस में फरमाया वो तू ही है कि हजूर ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि एक शख्स तख्त पर बैठकर तकिए पर टेक लगाकर मोटे पेट वाला कहेगा कि हमारे लिए कुरान बस है और हमें हदीस की जरूरत नहीं गदा जो है मैंने हराम किया है तो इस हदीस बाग में गधे का जिक्र है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गदा मैंने हराम किया तो उसने गधे का ही सवाल किया उससे और वो उसको लाजवाब हो गया तो अगर ये अकीदा बना लिया जाए कि हम उस हदीस को मानेंगे कि जो कुरान का हु बहू मफहूम हो या तर्जमा हो तो फिर अकीम सलाह तो है लेकिन नमाज की तफसील कुरान में नहीं मिलती और नमाज की तफसील किस में मिलती है आदि से तैयबा में तो गुलाम अहमद परवेज और सर सैयद अहमद खान और गुलाम कादियानी इन तीनों ने मौजाद का इनकार किया सर सैद अहमद खान और गुलाम अहमद परवेज ने मौजाद का इनकार क्यों किया उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसी बातें हैं कि जब हम काफिरों के सामने पेश करते हैं तो काफिर हंसते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि एक लाठी जमीन पर डालें और इतना बड़ा असदाहा बन जाए ये कैसे हो सकता है कि हजरत ईसा यूं हाथ फेरे और आंखें किसी को मिल जाए शिफा मिल जाए ये कैसे हो सकता है कि मूसा सलाम लाठी मारे और समंदर बारह हिस्सों में तकसीम हो जाए तो काफरों के एतराज से मुतासर होकर बजाय ये कि काफरों को जवाब देते उन्होंने कुरान को बदलने की कोशिश की और ऐसे ही लोगों के मुतालिक उस दौर में अल्लाह इकबाल ने एक शेर कहा जिसका एक मिसरा यह है खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं तो कुरान को कोई बदल नहीं सकता कुरान के मफहम को बदलते हैं इसी तरह ये गुलाम अहमद परवेज और सर सैद अहमद खान ने जिन्नात का और फरिश्तों का इनकार किया वो कहते हैं कि अंग्रेज और काफिर मजाक उड़ाते हैं भाई ये कैसी मखलूक है जिन और ये कैसी मखलूक है फरिश्ते तो गुलाम अहमद परवेज ने कहा कि जो खाना बदोश होते हैं जिनका किसी शहर में या गाँव में कोई जगह नहीं होती कभी यहाँ वो पड़ाव करते हैं कभी वहाँ करते हैं तो उसने कहा कि खाना बदोश को जिन्नात कहते हैं और जो शहरों देहातों में रहते हैं उन्हें इंसान कहते हैं इसकी किताब का नाम आप जो नोट कर लें गुलाम अहमद परवेज ने अपनी किताब लुगातुल कुरान में ये बात कही सफ़ा नंबर 400 फोर्टी सिक्स लगातुल कुरान सफ़ा number four hundred forty six Ghulam Ahmad Parvez ने बात कही कि जिन्नात से मुराद हैं खाना बदोश और फरिश्तों से मुराद हैं जो शहरों में या देहातों में रहने वाले हैं और सर सैद अहमद खान ने एक तफसीर लिखी है तफसीर कुरान तीसरी जिल सफ़ा नंबर सेवेंटी नाइन से लेकर एटी नाइन तक उसमें उन्होंने जिन्नात और फरिश्तों का इनकार किया है और कहा कि जिन्नात से मुराद है बदमाश लोग लुफंगे दहशतगर्द या जो बदमाश और जालिम किस्म के लोग हैं उन्हें जिन्नात कहते हैं और जो शरीफ हों उन्हें कहते हैं फरिश्ते इस तरह उन्होंने फरिश्तों और जिन्नात का इंकार किया और ये इंकार जो है कुफर है तो फरमाया कि मोजात जो हैं इनका इंकार जो है वो कुफर है अल्लाह ताला ने नबियों को मौजाद अता फरमाए मुआजा उसे कहते हैं कि जो आम तौर पर आम आदमी ना कर सके और नबी वो करके दिखाता है अल्लाह के इज़न से अम्बिया आलिम अपनी अपनी कब्रों में उसी तरह बहयात हकीकी जिंदा है जैसे दुनिया में थे खाते हैं पीते हैं जहां चाहे आते जाते हैं ये बात कोई मन घड़त नहीं बल्कि अहदीस से साबित है आप लिख लीजिए इबन माजा किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1637 इब्न माजा यह सियासता की किताबों में से है इब्न माजा किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1637 इन अल्लाह रमा अल अर्दी अन ताकुल अजसादल अम्बिया इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने हर रमा हराम कर दिया अल अर्दी अला माने पर अर्द माने जमीन अलल अर्दी जमीन पर हराम कर दिया अन अलिफ नून अन अजसाद अजसादल अम्बिया अजसाद जो है वो जसद की जमा है अजसाद माने जिसम अन अजसाद अल अम्बिया बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया वो अम्बिया के जिसम को नहीं खा सकती तो कब्रों में नबियों के जिसम महफूज हैं आगे फ नबी बस अल्लाह का नबी फ नबी हयुन जिंदा है हयुन जिंदा है यूर जको उसे रोजी दी जाती है उसे रोजी दी जाती है ये इबन माजा किताबुल जनाइज में है तो अम्बिया आलिम अपनी अपनी कब्रों में उसी तरह बाहयात हकीकी जिंदा हैं जैसे दुनिया में थे खाते पीते हैं जहां चाहे आते जाते हैं जहां चाहे आते जाते हैं ये बात तफसीर सावी में लिखी है इसका हवाला नोट कर लें तफसीर सावी जिल्द पहली सफा नंबर 333 तफसीर सावी जिल्द पहली सफा नंबर 333 कुल्लू नफसिन जायकतुल मौत है कि हर जान को मौत का मजा चखना है तो एक आन के लिए उन्हें मौत आई फिर बदस्तूर जिंदा हो गए उनकी जिंदगी शहदा की जिंदगी से बहुत आला है देखें शहीद जिंदा है जो नबियों को जिंदा नहीं मानते वो शहीद को जिंदा जरूर मानते हैं शहीद जिंदा है लेकिन आप बताएं कि शहीद इंतकाल कर जाए तो उसकी विरासत तकसीम होगी कि नहीं शहीद की विरासत तकसीम होगी शहीद की बीवी बेवा है इद्दत गुजारेगी इद्दत गुजार कर वह दूसरा निकाह कर सकती है लेकिन नबियों की विरासत तकसीम नहीं होती नबी की अजवाज जो हैं उन पर नबी के विशाल के बाद इद्दत नहीं है और वो कभी भी किसी और से निकाह नहीं कर सकते कुरान मजीद फुकान हमीद में इशाद है सूर अहजाब आयत नंबर 53 थ्री बाईस पारा चौथा रुकू वला अन तन के अजवाजहू मिम्बादी अबदन तुम नबी की बीवियों से कभी भी निकाह नहीं कर सकते तो चूंकि नबी जिंदा हैं इसलिए नबी की अजवाज मतारात से कोई निकाह नहीं कर सकता नबी के अजवाज मतारात पर इद्दत नहीं होती और नबी की विरासत तकसीम नहीं होती आकद जहां सल्लल्लाहु वसलम को ये ख़ास फजीरत हासिल है कि जितने नबी आए वो किसी कौम के लिए आए या किसी इलाके के लिए आए और किसी वक्त तक आए लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु वसलम इंसानों के भी नबी हैं जिन्नात के भी जो रसूल हैं तमाम मखलूक के नबी और रसूल हैं और क़यामत तक आप नबी और रसूल हैं हजूर अकद सल्ला वसलम तमाम जहां वालों के लिए रहमत हैं ममार सल्ला का रहमत आलमीन सूर अम्बिया आयत नंबर एक सौ सात और हजूर सल्ला वसलम मुसलमानों पर तो बहुत ही ज्यादा मेहरबान है बहुत ही ज्यादा मेहरबान हैं सुर तौबा आयत नंबर 128 सुर तौबा आयत नंबर 128 लकद जाकुम रसूल मिन अनफुसिकुम सुन अलैमा अनितुम हरीस अलैकुम बिलमोमिन रऊफ रहीम बेशक तुम्हारे पास वो रसूल आ गए जो तुम ही में से हैं ये तुम्हें बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं तुम मुशक्क़त में पढ़ो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते मोमिनों पर बहुत ही ज्यादा मेहरबानी करने वाले नरमी करने वाले हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि खातमनबीन है आपके बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता हजूर के बाद या हजूर के जमाने में कोई नया नबी नहीं हो सकता जो ये कहे कि हजूर के जमाने में या हजूर के बाद कोई नबी आ तो नहीं सकता लेकिन आ जाए तो हरज भी नहीं है वो भी काफिर है जो हजूर के बाद नए नबी का आना जायज माने वो भी काफिर है जैसे कि तहजीर उन्नास में आपने सुना कि कासिम नानुतबी ने जो दारूम देवबंद के बानी है उन्होंने तहजीर उन्नास में यही लिखा है कि नबीन का तर्जमा आखिरी नबी ये आवाम का ख्याल है जो आहले फ़हम है यानी जिनके पास अकल है वो ये जानते हैं कि ख़ातमनबीन का तर्जमा आखिरी नबी नहीं बल्कि बिजात नबी है अफजल नबी है तो उसने कहा कि अगर हजूर के बाद भी कोई नबी आ जाए तो हजूर ही ख़ातमनबीन है क्योंकि ख़ातमनबीन का मतलब आखिरी नबी नहीं बल्कि अफजल नबी है बिजात नबी है तो ये बातें जो उन्होंने कही ये कुफर है क्योंकि ख़ातमनबीन का तर्जमा है आखिरी नबी इस तर्जमे में रद्द बदल करना कुफर है और ये समझना कि हजूर के बाद अगर कोई नबी आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो भी काफिर है इसलिए कि हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता इस ईसा सलाम आएंगे हजरत खजर लोगों से मुलाकात आप फरमाते हैं हजरत इलियास हज के दौरान बाल लोगों को नजर आते हैं लेकिन वो नए नबी नहीं है बल्कि वो पहले नबी आ चुके हैं सूर्य आहजाब आयत नंबर चालीस में है माँ कान मोहम्मद अबा आहदिम मिर्रिजालिकुम वला के रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबीन और सौ साल में हर सहाबी ने हर वली ने हर मुफसर ने हर मुहदस ने ख़ातमन नबीन का तर्जमा आखिरी नबी किया और ख़ुद ताजीर नास में कासिम नानोतवी ये लिखते हैं कि चौदह सौ साल में हर एक ने यही तर्जमा किया है ये बात सिर्फ मेरी अकल में आई है और मुझ ही पर मेरे दिल पर ही खुली है कि खातमनबीन का तर्जमा आखिरी नबी नहीं होना चाहिए फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई बच्चा अच्छी बात कह दे तो क्या हरज है मतलब ये मानते हैं कि ये जो मैंने बात कही है ये किसी किसी साहबी ने किसी अहल बैत में से किसी वली ने किसी मुहदस ने किसी मुफसद ने नहीं कही ये इन्होंने एक बिदत निकाली है कि खातमनबी इनका तर्जमा बदल दिया और फिर क्या हुआ फिर ये हुआ कि कादियानी ये कहने लगे कि देखो तुम्हारे मौलवी ने कासिम नानोतवी ने ताजिर नास में ये लिखा कि ख़ातमन नबीन का तर्जमा है बिजात नबी अफजल नबी आखिरी नबी इसका तर्जमा नहीं है तो फिर हम भी हुजूर को ख़ातम नबीन मानते हैं किसने कहा कादियानी ने कहा इसलिए कि हमारे नज़दीक भी ख़ातम नबीन का तर्जमा आखिरी नबी नहीं है हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है और वो अपने डेस्क पर सबसे पहले ताजिर नास रखते हैं कोई भी बहस करने जाए तो उससे कहते हैं बताओ दारुल देवबंद बहुत बड़ा मदरसा है कि नहीं जी हाँ बिल्कुल बड़, बहुत बड़ा मदरसा है तो उससे कहते हैं देखो ये दारुल देवबंद के बानी ने ये बात लिखी है तो मिर्जा गुलाम कादियानी जो है उसने नबूत का जो दावा किया तो तुम ये कहते हो कि जो इससे दलील मांगे वो भी काफिर है क्योंकि हुजूर के बाद कोई नया नबी आ नहीं सकता तो अब झूठे नबी से मुआवजा तलब करना यह भी कुफर है तो मानते ही नहीं हो तो देखो उन्होंने लिखा है कि खातम नबीन का तर्जमा आखिरी नबी जो है ये अवाम का ख्याल है तो फिर जो समझदार होगा वो तो कहेगा कि भाई तुम ये किताब हमारे सामने क्या पेश करते हो ये कासिम नानवी तो वो है कि आला हजरत इमाम अहल सुन्नत ने जब इसकी ये तहरीर हरमैन शरीफेन के सामने रखी तो पूरी दुनिया के तमाम मुस्तनद उस दौर के बड़े बड़े ओलमा ने उन्होंने ये फतवा दिया कि अगर उसने किताब में ये बात लिखी है तो ये काफिर है और ये जो इसके काफिर होने में शक करे वो भी काफिर है मन शक कफी कुफर ही फकद कफर कि खातमनबीन का तर्जमा तो कल कोई अकीम सलाह का तर्जमा बदल देगा कहेगा कि चौदह सौ साल तक अकीम सलाह का लोग तर्जमा नमाज करते रहे लेकिन मैं बच्चा हूं लेकिन मेरे जहन में एक नया तर्जमा आया है सलाह का मतलब है दुआ करना और अकीम सलाह का मतलब है चौबीस घंटे दुआ किया करो नमाज पढ़ो या ना पढ़ो बस दुआ कर लो काफी है तो इस तरह तो कुरान में तारीफा शुरू हो जाएंगी मानवी लफ्ज को कोई नहीं बदल सकता माना को बदल सकता है और माना वो जब बदलेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह रबीन बुजुर्गों ने ऐसा फैज दिया है मुसलमानों को कि वो किसी नए माना को कबूल नहीं करेंगे अल्लाह तबारक बताला ईमान की सलामती अता फरमाए मुझे एक आगा खानी ने बताया कि जो अब मुसलमान हो चुका है उसने कहा कि आगा खानी अकीम सलाह का तर्जमा दुआ करते हैं और कहते हैं कि सलाह का मतलब यहां दुआ है नमाज नहीं है और वो पंच वक्त नमाज को नहीं मानते वो कहते हैं बस दुआ कर लो काफ़ी है वल्लाह तलम अगर वो ये बात कहते हैं तो यकीन ये भी क्या है कुफर है क्योंकि असलाह का जो मतलब है वो रसूलुल्लाह से लेकर आज तक जिन्होंने रसूलुल्लाह से फैज़ लिया तमाम ही उम्मत का इस पर इजमा है कि यहाँ पर सलाह का मतलब क्या है नमाज है अल्लाह ताला हमें ईमान की सलामती नसीब फरमाए दोनों जहाँ की बरकतें नसीब फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह इसी मस्जिद में हर जुमे को रात दस बजे से लेकर साढ़े ग्यारह बजे तक नूर कुरान नशिश होती है आप ज़रूर ब ज़रूर तशरीफ़ लाएं इन शजल इस जुमे को जो नशिश होगी इसमें सूर्य रहमान का आगाज़ किया जाएगा खारादर कुतियाना निमको से 9 बजे खातन के लिए और मर्द हजरात के लिए वैन रवाना होती है इसके अलावा अर्ज यह है कि हर अंग्रेजी माह के पहले बुद्ध माहाना नशीस होती है यूं तो हम ये कहते हैं कि हर अल्हम्दुलिल्लाह हर उनवान अहम तरीन उनवान होता है लेकिन ये जो उनवान है जो इस दफा है ये बहुत ही ज्यादा अहम है अगर आप आज तक सुस्ती करते रहे तो इस उन्वान में कभी सुस्ती मत कीजिएगा अपने घर वालों को जरूर लेकर आइएगा यहूद नसारा ने हमारे पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया लेकिन हमारा जो सिस्टम तबाह हुआ है उसकी जो पहली इकाई है वो खानदानी निज़ाम है अगर हम अपने सिस्टम को बचाना चाहते हैं और यहूद नसारा के जो असरात हैं वो जायल करना चाहते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं मसलन हम हुकूमत का रोना रोते हैं अब हम हुकूमत में कोई तब्दीली नहीं कर सकते मायूस होकर बैठ जाते हैं हालांकि अल्लाह ताला का हम पर करम है कि अल्लाह ने उसके रसूल ने हमें जो खानदानी निज़ाम दिया है हम अगर अपने खानदान में वो इस्लामी मिजाज और वो इस्लामी निज़ाम कायम कर दें तो एक खानदान से दूसरा खानदान और फिर खानदानों से माशरा बनता है और माशरे से फिर शहर और मुल्क बनते हैं तो अगर हम इस पर जो कोशिश करें तो इनकलाब आएगा इन ताला तो उनवान है खानदानी निज़ाम के बिगाड़ में यहूद नसारा का किरदार क्या क्या उन्होंने बिगाड़ दिया है और आइंदा की उन्हें जो क्या प्लानिंग है और किस तरह वो हमें तबाह करेंगे अल्लाह ताला हमें उनकी शरारतों से महफूज फरमाए आप ज़रूर ब ज़रूर इस प्रोग्राम में आए इसी बुध को रात इन दस बजे तकरीबन साढ़े दस बजे बयान का आगाज़ होगा और आखिर में अल्लाह ताला के मुबारक नामों का विरद होगा और कुरान पाक के एक एक हर्फ के वसीले से दुआ मांगी जाएगी शहजादा लोन कादरिया लोन जो जेल चौरंगी के पास वाक़ है इसी बुध को रात दस बजे इन महफिल होगी खातन के लिए पर्दे के साथ अहतमाम है अल्लाह रब्लमीन हमें इस प्रोग्राम में खुद भी आने और दूसरों को लेकर आने की तोफीक अता फरमाए उनवान याद रहे ख़ानदानी निज़ाम के बिगाड़ में यहूद नसारा का किरदार खानदानी निज़ाम के बिगाड़ में यहूद नसारा का किरदार अल्लाह ताला हम सबको यहूद नसारा की शरारतों और साजिशों से महफूज फरमाए बसमीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار मिलके पढ़िए या मुकलिबल कुलूब सबित कलबी अला दीनिक या मुकल्लिबल कुलूब सबित कलबी अला दीनिक या मुकल्लिबल कुलूब सबित कलबी अला दीनिक मालिक आज तक हमने जो दिली जायज तमन्नाएं दुआएं और आर्जुएं की हैं आइंदा करेंगे उनमें से जो हमारे हक में बेहतर हो सब कबूल मंजूर फरमा ये सारी दुआएं तमाम मुसलमानों के हक में कबूल मंजूर फरमा इन मलाई मलाइकतहूसलनबी या अयुहदीन आमनु सल्लु अलैहि तस्लीमा صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين